हे थे समृत वो दस हजार भी जो बालक थे भाई आपस में तो एक से तो सबकी आकृति एक से स्वभाव बड़े शांत वो दक्षिणारायण ने कहा कि अब तुम प्रजा की सृष्टि करो आप प्रजा को बढ़ाओ वो पिता की आज्ञा पालन करके और पश्चिम दिशा में चले जहां नारायण सरोवर तत्र नारायण सरसी स्नान स्नानादेव कतमला जहां नारायण सरोवर है वहां जाकर उन्होंने स्नान किया और उनके अंतकरण निर्मल हो गए और प्रजा वृद्धि के लिए वो तप कर रहे सकाम भाव से नारद जी ने देखा नारद जी वहां आ गए अकस्मात और उनका ये तो मोक्ष में जाने के योग्य प्राणी है सभी बेचारे सीधे साधे थे इनके पिता ने इनको लगा दिया काम कर्म में नारद जी वहां आए और कहा अरे अभी हमारा उवाच चात वर्यस्व कथम सृक्षत वै प्रजा अदृष्टान्तम भुवो अरे हरियश्वो तुमने पृथ्वी का अंत देख लिया नहीं महाराज तो जब तक पृथ्वी का अंत नहीं देखा और तुम सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए सकाम कर्म कर रहे हो इससे क्या लाभ मूर्ख हो तथैक पुरुषम राष्ट्रम विलंचा दृष्ट निर्गमन तुमने एक ऐसा राष्ट्र एक ऐसा देश देखा है जहां एक ही पुरुष है बोला हमने नहीं देखा तो इसलिए मूर्ख ही है और क्या एक ऐसा बिल है जिसमें जा करके फिर लौट करके नहीं आ सकता बोलो देखा है तुमने क्या फिर देखा होता तो लौट के ही कहां आते बोलो एक ऐसी स्त्री है कि वो अपना रूप बदलती रहती कभी उसको देखो तो गौर वर्ण होगी कभी उसको देखो तो उसका रक्त वर्ण होगा कभी उसको देखो श्याम वर्ण की होगी वो अपना स्वरूप बदलती रहती है महाराज हमने तो देखी नहीं कोई ऐसी बोले एक पुरुष भी है जो उसका दास बना हुआ उसे जानते हो एक नदी ऐसी है कि जो दोनों ओर को बहती है कभी पूरब को बहती है तो कभी पश्चिम को बहती है हरेश बोले महाराज नारद जी हमने तो एक और कोई बहने वाली नदी देखी है कभी इधर को गए और कभी वो उधर को बहने लग जाए सो तुमने तो नहीं देखी अरे जो 25 मसालों से तैयार होता है वो घर में देखा है बोलो हम नहीं जाना एक हंस ऐसा है जिसकी विलक्षण करता है और एक ऐसा चक्र है कि जब सबको काट बड़ा मजबूत है बोला हमने नहीं जानते हमने नहीं देखा अच्छा तुम आप अपने असली पिता को जानते हो उसकी क्या आज्ञा है तुम्हारे लिए बोलो हम तो दक्ष को ही अपना पिता समझते हैं और तुम जानते हैं अरे तो तुम रूप हो अनुरूपम <coughs> हाँ, अभिज्ञा है अहो सर्वम कर्ष और उसके अनंतर वो सबके सब बुद्धिमान थे कि नारद जी ये बात कह रहे हैं ये कूट वचन है उन्होंने इस पर विचार किया तो उनकी बात समझ में आ गई वो नारद जी सीख के थे भूक्षेत्रम जीव संयम यदराध निज बंधनम अदृष्टा तस् निर्वाणम किमसत्कर्म भवे नारद जी ने ये जो कहा है करे पृथ्वी का भू जो पृथ्वी है उसका अंत नहीं किया तो भूक्षेत्रम जीव संग्रह ये जो है सूक्ष्म जो शरीर है इदम शरीरम कौन थे या क्षेत्र नित्य विद्रिय थे इसी का नाम क्षेत्र है ये पृथ्वी है इसका अंत ये बिना इसका अंत होता है ज्ञान से आत्मज्ञान से इसका अंत ये बिना ये सकाम कर्म से क्या हमारा मोक्ष हो सकता है नहीं हो है उसका अंत करना है एक ईश्वर जो भगवान स्वास्थ्य उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक ही पुरुष है तो उनके ये तो यही देश है जिसमें एक ही परमात्मा है और है ये उन्होंने पीछे समझा अष्टावक्र जी का एक श्लोक है अहो जन समूह भी नद्वैतम तो मनो अरण्य में समृतम त्वरतम करवा में अष्टावक्र जी कहते हैं कि लाखों आदमियों की भीड़ ने भी जब मैं विचार करके देखता हूं अहो जन समूह भी नद्वैतम तो मनो तब हमें दूसरा कोई आत्मा दिखाई तो देता ही नहीं है जन लाखों मनुष्यों के समूह में वो एक ही आत्मा अनुस्यूत है तो जब मैं ये विचार करता हूं तो उतना समुदाय भी उस समय जंगल के समान मालूम होता है अकेले ही हम रह जाते हैं कोई दूसरा है ही अहो जन समूह तीन अद्वैतम पश्यको मम अरण्य में तो समृत्यम कर रहे तो कहते हैं ये सारा जितना विश्व है उसमें एक ही चेतन आत्मा है एक ही पुरुष है दूसरा कहा है उस परमात्मा को साक्षात किए बिना ये सकाम करने से क्या लाभ उन्होंने सोचा और ये कहा कि एक ऐसा बिल है जहां जाकर के लौटते नहीं कि न पुनरावर्त के वो मोक्ष है मोक्ष में जाकर के जीव लौट करके नहीं आता वो कौन स्त्री है कि जो अनेक रूप धारण करती है कि ये बुद्धि है कभी सात्विक हो जाती है कभी तो भगवान के में मन लगने लगता है वैराग्य आता है और कभी ठाट बादशाह है कभी क्रोध में भर जाती है तो कभी तो सात्विकी है तो कभी राजसी है कभी तामसी है और ये जीव उसका दास बना हुआ है बस वो भी उसके साथ हो लेता अपने को क्रोधी मानता है सात्विक मानता है कि मजहब कर्म विरुद्ध और दोनों ओर को बहाने वाली नदी कौन सी है तो बोलो ये भगवान की माया कभी सृष्टि करती है कभी सृष्टि को लीन कर लेती है जगत को उत्पन्न करती है और जगत को लीन कर देती है ये ये वही नदी है भगवान की माया यही बेला पूर्णांत वेदिका इसके पार जब कोई जाना चाहता है तो और बेल से बढ़ती निकलने नहीं देती इसको ये 25 मसालों से तैयार होने वाला घर कौन सा है ये जो मकान बनते हैं इनमें तो दो चार ईंट और सीमेंट विमेंट यही लगते हैं जिस मसाले से तैयार होने वाला ये मनुष्य का शरीर ही घर है पुरुषों अद्भुत धरती मुस्त जय बंद मोक्षाम दर्शन वो कैसे है वो हंस कौन है जिसकी विलक्षण कथा है अरे वो ये शास्त्र है जो दृष्टा और दृष्ट को अलग अलग बताता है बंद और मोक्ष को स्पष्ट करता है वो वो कौन चक्र है तो सबको काट रहा है कि ये काल चक्र काल चक्रम भ्रमस्तीक्षण सर्वम निष्कर्ष है जगत और नारद जी ने कही वो असली पिता कौन है उसकी तुम्हारे लिए क्या आज्ञा है नारद जी ने कहा उन्होंने कही वास्तविक में असली पिता तो परमात्मा ही नहीं सकते इस लौकिक पिता को क्या पता है ये हमारी थोड़ी रक्षा कर जब माता के गर्भ में बालक होता है तो ये लौकिक पिता क्या उसकी रक्षा का प्रबंध कर सकता है गर्भ में माता के गर्भ में बच्चे की रक्षा कौन करता है वही जगत पिता करता है इसलिए उसकी हमारे लिए क्या आज्ञा है नारद जी ने कही उसकी तो आज्ञा यही है सर्वधर्मान परज्य मामेकम शरण व्रत अरे सब प्रपंच को छोड़कर के मेरी शरण में आया बस वो सब दस हजार के पुत्र जो थे साल उठ करके उत्तराखंड को चले गए नारद जी को प्रणाम करके महाराज आपने तो हमारा कल्याण कर लिया फिर दक्षिण जब सुना के दस हजार पुत्र हमारे विरक्त कर दिए नारद जी ने तो बड़ी झूझल बड़ी उनको क्रोध आया फिर एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए और फिर वो लोग नरना आहुरी सरोवर पर पहुंच गए नारद जी ढूंढ रहा के फिर वही पहुंचे और फिर उनको कहे अपने भाइयों के मार्ग का अनुसरण करो किस प्रपंच में पड़े हो बस उनको विरक्त बना दिया बात जब सुनी तो बड़े क्रोध में भर गए और उनके रोग पड़कने लगे दक्ष थे आंखें लाल लाल हो गई और नारद जी तो इतने निर्दय हैं <laughs> वह अकस्मात धूम से गांव के उनके सामने पहुंचे तो वो क्रोध में भर करके बोले अरे वो असाधु मैंने साधु का वेश बना रखा है तू है असाधु गया साहब बालानाम भिक्षुण मार्गदर्शन हमारे छोटे छोटे बच्चों को सन्यासियों का मार्ग देने उपदेश किया अरे तीन ऋणों से पूर्ण हुए बिना और सन्यास कर लेना विरक्त बना दिए तू बड़ा निर्दयी है बालानाम मतभेद हमारे बच्चों को बहकाने वाला और तुझे लज्जा भी नहीं है फिर हमारे सामने आगे खड़ा निर्लज सन हरे पार्षद मध्य कथम चलते और भगवान के, के पार्षदों के बीच में रहते हो तुम्हें लज्जा नहीं आ त्वाम बिना साधु भूतानुग्रह तुमको छोड़ करके जितने संत होते हैं प्राणियों का दया करते अरे पुरुषाम स्नेह पास दूरीकरण बिना के अंदा यदा यथा नरो भवन सुख दुखानुभवम ज्ञापका पश्चात के का जब संसार के सुख दुखों का अनुभव कर लेता है प्राणी तब सच्चा वैराग्य होता है इसलिए तुमने हमारे बच्चों को पहले ही गलत बना दिया कहने हमारे वंश का उच्छेद ही कर दिया अब जाओ तुम एक जगह नहीं रह सकते टिक नहीं सकते लोके ग्रहणस्ते परम स्थिरम न भले सुखदेव जी कहते हैं नारद जी ने कहा ठीक है महाराज हम आपके साथ साथ को स्वीकार करें नारद जी चाहते तो फिर साफ दे भी सकते थे बदले में प्रति जब ग्राह तदाहम नारद साधु सम्मता एतावान साधुवादो ही तिथिक्षेपेश्वर स्वयं नारद जी साप देने में तो उसको साप भी दे सकते थे परंतु साप स्वीकार कर लिया उन्होंने साप दिया नहीं यही साधु का लक्षण है क्या दूसरे के अपराध को सह लेना ये था एकावान ही इति क्षेत्रेश्वर स्वयं समर्थ होकर के दूसरे के अपराध को भी सह लेता है बस यही सार्व क्षमा साराज सार्व और परीक्षित ने कहा महाराज हमने सुना कि बृहस्पत जी देवताओं से रुष्ट हो गए थे क्या कारण सुखदेव जी कहते हैं कि इसका कारण ये है कि इंद्र जो है उसको तीनों लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया सिंहासन पर बैठा था सिद्ध चारण लोग उसकी स्तुति कर रहे थे इंद्राणी गावाणी में बैठी थी बड़ी भारी सभा लगी हुई थी और उसमें बृहस्पति जी आए इंद्र ने देख लिया कि हमारे गुरु जी आ परंतु देख करके वो उठा नहीं देख लिया कि गुरु जी सभा में प्रवेश कर रहे हैं पर वो सिंहासन से नहीं हुआ बृहस्पति जी ने देख लिया था हाँ अब ये बड़ा अभिमानी हो गया है और ये सिंह हमारा उत्थान नहीं कर रहा जब बृहस्पति ने देखा कि ये तो इस समय मद से व्याप्त है ये देख करके फिर वहीं से लौट गए आगे नहीं बढ़े तब तो, इंद्र ने देखा हो ये तो मैंने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया मेरे ऐश्वर्य को धिक्कार है दिग्मान ममैश्वर्य जो हम आश्रम भारों से मुझे अभिमान आ गया मेरे को दिखता ऐसा कह करके और फिर नंगे पैर और गुरु जी के से क्षमा मांगने के लिए चला अतो गुरु प्रसाद वो गुरु जी को मैं प्रसन्न करूंगा चल करके नंगे पैरों बृहस्पति जी के घर पहुंचे बृहस्पति जी ने जान लिया कि हमारे पास आ रहा है वहां से अंतरदान हो गए अब तो इंद्र बड़ा दुखी गुरु जी दुष्ट हो गए ये बात दैत्यों को पता चल गया कि अब उनके गुरु देवताओं से दुष्ट हो गए हैं वो दैत्य लोग जो हैं वो शुक्राचार्य के पास पहुंच गए की आपकी आज्ञा हो तो अब हम देवताओं पर आक्रमण कर दें क्या बात है भाई क्या बृहस्पति जी रुष्ट हो रहे हैं अब उनके समय उनकी रक्षा करने वाले उनके आचार्य नहीं हैं शुक्राचार्य ने आज्ञा दे दी ठीक तब तो दैत्यों ने एकदम आक्रमण करके उनके सारे स्थानों को छीन लिया इंद्र जो पद थे उच्च उच्च पद सब दैत्यों का अधिकार हो गया देवता अपने पदों को छोड़ छोड़ करके भाग गए और ब्रह्मा जी की शरण में गए ब्रह्मा जी ने देवताओं को दुखी देखा और कार्य ये तुम अपने गुरु का जो तिरस्कार किया उसका फल तो मिलेगा ही हे मगवान लोग जाओ अभी बृहस्पति जी तुमसे प्रसन्न नहीं होंगे तो अब तुम पहले कुछ दिन के लिए दूसरा अपना आचार्य बना लो जो तुम्हारी रक्षा कर सके अस्मात आर्ष विश्व रूपम भजत विश्व रूप को अपना आचार्य बना लो वो तुम्हारा तुम्हारी सहायता करेंगे इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने कहा तो विश्व रूप के पास देवता लोग पहुंचे और कहने लगे एताप वयम अतिथय प्राप्त इंदिराज देवता बोले हम अतिथि होकर के आपके पास आए हैं हमारी इच्छा आप पूरी करें हम आपको अपना आचार्य बनाना चाहते हैं अपना गुरु बनाना चाहते हैं विश्वरूप ने कहा अरे देवताओं ये पुरोहिती का जो काम ये तो पूर्णियों का नाश करने वाला है तो इसको मैं अच्छा नहीं समझता परंतु तुम हमसे मांगने आए हो प्रार्थना कर रहे हो तो चलो हम तुम्हारे कहने से स्वीकार किए लेते दुर्मति धनेच्छया तत्कर तुम हृष्य की ये जो मूर्ख होते हैं धन की इच्छा से पुरोहित बन जाते हैं मुझे ये नहीं समझते कि ये ही का कर्म पूर्ण नाशक तथा भगवान प्रार्थतम प्राण अर्थता पर तुम मेरे से मांगने आए हो हमारे दरवाजे पर आए हो चलो हम तुम तन मन से हम तुम्हारी सहायता करें ऐसा कह करके रूप ने प्रतिज्ञा करके उनका पुरोहित बन गए और शुक्र विद्या से रक्षित जो दैत्यों की वैष्णवी संपत्ति थी हम्म, दैत्यों की जो संपत्ति थी वो वैष्णवी विद्या के द्वारा <clears throat> छीन करके और जो है फिर देवताओं को दे दिया नारायण कवच का उन्होंने उपदेश किया और नारायण कवच के प्रभाव से इंद्रादिक देवताओं ने और दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की इनके तीन सिर थे विश्वरूप के तीन सिर थे तीन एक से सोमपान करते थे सोमरस का पान करते थे एक सिर से और एक एक मुख से अन्न खाते थे और एक मुख से शराब पीते तीन अलग अलग जिससे अन्न खाते थे उससे सोमपान नहीं करते थे जिनसे चौपान करते थे उससे शराब नहीं पीते थे तो सोम पीतम पीतम अन्नादम ये तीन शराब शिराम थे तीन उनके मुख थे में देवताओं को तो प्रत्यक्ष भाग दे रहे थे विश्वरूप यज्ञ जब कर रहे थे तो इंद्राय स्वाहा इंद्र का नाम स्पष्ट ले रहे थे अग्नि स्वाहा अग्नि का नाम स्पष्ट ले रहे थे और वो मातृ स्नेह से उनकी माता जो थी वो दैत्य वंश की थी दैत्य और देवता एक ही तो है भाई भाई तो है पिता एक हैं मां दो हैं तो उनकी माता जो थी वो दैत्य कुल की थी इसलिए मातृ स्नेह से दैत्यों को भी भाग देते थे यज्ञ जब देवताओं को देते थे तो स्पष्ट उच्चारण करके इंद्रा स्वाहा स्वाहा और जब दैत्यों को देना होता तो मन मन में चुप चुप दे देते इंद्र ने कहा ये चुप चुप करके भाग किसको देते तो देखा करिए तो दैत्यों के लिए ही हवन कर रहे भाग दे रहे हैं दैत्यों से भी इनका स्नेह है ऐसा समझ करके इंद्रा एवं तस्य कापट्यम ज्ञान इंद्र ने गुरु जी के कपट को देख लिया तो तत्काल लेकर के खड़ तलवार निकाली और उनके तीनों से